हरिता देवाधस्वा माशुचरिते भज उदायुषा सुवा विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं कल के सत्संग में आपने सुना था कि विद्या पढ़ने और सुनने में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए कौन बताएगा हाँ जी बोलो कौन बताएगा हम्म। पहले ही विद्या को अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए हम्म। फिर उसका मनन करना चाहिए हम्म। फिर निधि ध्यान करना चाहिए फिर उसको आचरण में लाना चाहिए हाँ। तो इसलिए सांख्य दर्शनकार ने ये बात कही कि व्यक्ति को भ्रांति न रहे भ्रम न हो जावे कि मैं पढ़ चुका हूँ पढ़ा देता हूँ उपदेश कर लेता हूँ लेखन कार्य में भी पूरी सफलता प्राप्त की है उपदेश में भी निपुण हो चुका हूँ वो ये न मान लेवे कि मैं विद्वान हो गया हूँ ये चेतावनी बार बार दी जाती इस स्थिति में पढ़े लिखे लेखक उपदेशक अध्यापक वो शब्द के विद्वान हो सकते हैं विशुद्ध विद्या के विद्वान नहीं माने जा सकते जिस समय उसने जो बातें पढ़ी हैं और जो सुनी हैं वे उसके मन में दिखाई देने लगे और वो दिखाई देने के पश्चात ज्यो की त्यों जमी रहे दिन भर क्या समझ में आया विद्या मन में दिखाई देना चाहिए और दिन भर जो गीतों जो उसने विद्याएं पढ़ी हैं और सुनी हैं वे उसके मन में जैसा पदार्थ का स्वरूप बताया है वैसा जन में आभाषित प्रतीति उसकी होनी चाहिए और वो प्रतीति पूरे दिन भर बनी रहे तो उस समय ये मानना चाहिए कि ये विद्या मुझे आई इसका स्वरूप मुझे हाथ लग गया परंतु इसको यों की यों बनाई न रखूंगा तो ये दोबारा चली जाएगी वो ये जानता है ये शरीर और ये वृक्ष पहाड़ पृथ्वी सूर्य चंद्रमा ये उसको अनित्य दिखने लगे यहां तक पहुंच गया हो पहले उसने श्रवण किया मनन किया निधि ध्यान किया अब ये उसको अनित्य दिखने लग गए अनित्य जब दिखने लग गए और ये दिन भर अनित्य ही देखता है तो ये अनित्य है ये विद्या उसको आई समझ में आ गई ऐसा समझना चाहिए यदि ऐसा नहीं प्रतीत होता तो ये विद्या भी शब्द अर्थ संबंध के रूप में है विद्या का वास्तविक स्वरूप सामने नहीं आया और आप यदि यो कहे ये चारों भाग अनित्य को अनित्य नित्य को नित्य असूची को असूची सूची को सूची दुख को दुख और सुख को सुख आत्मा को आत्मा अनात्मा को अनात्मा ये विद्या का स्वरूप है और उल्टा करो तो अविद्या का स्वरूप क्या होगा अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य अशुद्ध को शुद्ध शुद्ध को अशुद्ध दुख को सुख सुख को दुख आत्मा को अनात्मा अनात्मा को ये अविद्या का स्वरूप ये चारो भाग हमको अच्छी तरह दिखने लग जाए जैसा ये विद्या का स्वरूप है और दिन भर ये जमे रहे चारो भाग तो इस विषय में हमको विद्या आ गई ऐसा मानना चाहिए परंतु इतने पर भी आपने सुना था यदि उसको सतत बनाया न रखा जाए तो फिर हाथ से चली जाएगी और उसके स्थान पर विद्या फिर आ जाएगी अब क्या समझ में आया आ गई विद्या ये पहचान आपको हो गई आई हुई विद्या को यदि आप विवेक वैराग्य अभ्यास स्थिर न रखेंगे तो ये विद्या हाथ से चली जाएगी और अविद्या इसके स्थान पर आ जाएगी जब अविद्या आएगी तो अन्याय आचरण भी आएगा असत्य आचरण भी आएगा यदि अविद्या आएगी तो मिथ्या उल्टी उपासना भी आएगी और यदि अविद्या आएगी तो कलेश भी पीसेंगे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा जो विद्या पढ़ी ज्ञान बढ़ा उसको उसको व्यवहार में देखना और हमने एक सीमा बना दी चार विभाग बना लिए विद्या और अविद्या के पत्ते पत्ते पर घूमने की आवश्यकता नहीं है कितनी दुनिया के पदार्थ हैं उनको कैसे जाने का जान भी नहीं सकता तो ऋषि ने क्या किया चार विभाग बना दिए तो इन चारों को जान लो पांचवा जानने की कोई आवश्यकता नहीं अब समझ में आया नहीं आया है हाँ जी अविद्या का स्वरूप बता दिया कि जो अनित्य पदार्थ है शरीर से लेके महत्व तक उनको नित्य समझना इस संसार के सूर्य चंद्रमा को नित्य समझना आत्मा ईश्वर और प्रकृति को अनित्य समझना शरीर की दृष्टि से शरीर मनमूत्र से भरे शरीर को शुद्ध समझना अधर्म आचरण को शुद्ध समझना यह अशुद्धि का क्षेत्र है धर्माचरण को अशुद्ध समझना उल्टा हुआ ना दुख विषय भोगों में दुख है भयंकर दुख है उसमें सुख समझना उनको छोड़ के ईश्वर की उपासना में जो सुख है वहां दुख समझना शरीर इंद्रिया और ये सब पदार्थों को आत्मा समझना आत्मा को अनात्मा समझना तो ये अविद्या का स्वरूप हो गया चार विभागों को हमने जान लिया तो हमारी मुक्ति तक की विद्या सिद्ध हो गई आगे विद्या आए न आए ये आवश्यक नहीं जब आप कसौटी से कसेंगे चारों भी भागों को देखते देखेंगे आप कि मैं चारों में ठीक देख रहा हूं या नहीं या उल्टा देख रहा हूं यदि चारों में से उल्टा देख रहे हैं तो आपकी यह विद्या नहीं हटी है जैसा बताया वैसा देख रहे हैं तो आपकी विद्या हटी ये कसौटी दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं नहीं समझ में आया हो तो पूछो इसके साथ मोटा दृष्टांत जोड़ो हो सकता है कम समझ में आता हो आप एक व्यक्ति की कल्पना करें जो मरना बिल्कुल नहीं चाहता ऐसी स्थिति में उसको आदेश मिला कोई दोष होने से आरोप अथवा वास्तव में उसको दंड मिला इसको फांसी तोड़ दो आज बारह बजे उसको बिजली से जला दो और उसको पता चल गया बचने का कोई भी अवकाश नहीं है और वो प्रत्येक मिनट सेकंड में जैसे उसकी स्थिति होती है कि आज रात होनी है बारह बजे वो यही देख रहा है और इसी स्थिति में उसके होश वास उसकी स्थिति सोचने का ढंग और सारा हाव भाव इतना परिवर्तित हो जाएगा जो जीवन में कभी देखने को नहीं मिला इसका नाम है अनित्य को अनित्य जानना क्या समझ में आया नहीं आया समझ में इस दृष्टांत से समझ में आया ये स्थिति यदि बनी रहेगी ये तो केवल एक व्यक्तिगत शरीर है पूरे विश्व की यही स्थिति बनी रहेगी अरबों खरबों सूर्य चंद्रमाओं की यही स्थिति बनी रहेगी जैसे एक शरीर की ऐसी बनी रहेगी तब समझो इस विषय में उसको विज्ञान हो गया विद्या हो गई जब ये अवस्था आती है व्यक्ति की उसके अंदर आमूल चूल परिवर्तन पूरा जीवन ही बदल जाता पहला जीवन जो है वो लगभग समाप्त हो जाता आपने सुना था ये शरीर 20 वर्ष 40 वर्ष जितना जीवित रहेगा उसको देखिए फिर आगे चलिए ये पृथ्वी जैसी वस्तुएं कितने लंबे काल तक जीवित रहेंगी विद्यमान रहेंगी वो जो जब ये मान लेता है ये नाशवान है शत प्रतिशत तो इस शरीर का 20 वर्ष का काल या 40 वर्ष का काल क्षण भर का दिखाई देने लगता है निश्चित नाशवान है ऐसा मानने पर दिखाई देगा यदि नहीं ऐसा दिखता तो समझो उसने अनित्य को नहीं समझा ये पृथ्वी सूर्य चंद्रमा अरब वर्ष दो अरब वर्ष के पीछे बैठेंगे ऐसा मान के चलिए जब इनको नाशवान सिद्ध करता है तो दो वर्ष दो अरब वर्ष का समय क्षण भर जैसा दिखाई देता कुछ जची बात मन में नहीं निश्चित हो चुका है तब निश्चित हो गया निश्चित होने पर ऐसा दिखाई देता है ये है नित्य और अनित्य का दूसरे भाग को देखो जो जीवात्मा हम है प्रकृति है और ईश्वर है वो उसको नित्य है ये इनको कोई मार नहीं सकता ये नहीं बैठता मन आप क्या समझे ये मरेंगे ही नहीं शत प्रतिशत ये नहीं बैठता मन में आप बताइए कैसा लगता आप शब्दों से तो हम कहते हैं है जी पढ़ाते हैं पढ़ते हैं बोलते हैं पर शत प्रतिशत मन में बैठता है क्या बताओ कम बैठता है हुँ? हम्म? कम कुछ कम बैठता है हाँ जी बोलो कम बैठता है जो कम बैठता है जितना उसको इतना मन में बैठा लेना कि उसमें संशय ना रहे और संशय हटा करके संशय न हो जाए तुम्हारे ऐसा बनाए रखना नहीं तो फिर फिर उखड़ जाएगा अब क्या समझ में आया एक तो जहां संशय न रहे वहां तक पहुंचाना और संशय हटा दिया पर हटा हुआ संशय कितनी देर तक रहेगा आप खुला छोड़ दो ढीला छोड़ दो तो एक सेकंड नहीं रहेगा वो उसको बनाया रखना यदि बनाया रखते हैं तो वो विद्या है बनाया नहीं रखते तो वह अविद्या है ठीक आ गया समझो अब दूसरे को ले लो अशुचि को पहले तो ये बड़ा कठिन है कि अति सुंदर शरीर को देख करके व्यक्ति उसको मलमूत्र का भरा मानता हो और उसको देखने की उसको छूने की रुचि न हो उसको मलमूत्र से भरा देखता हो ये यहां पहुंच जाए और यहां पहुंच करके उसको दिन भर मलमूत्र का भरा हुआ देखता रहे एक बार पहुंच गया व्यक्ति यहां ये मलमूत्र का भरा है जैसा हमारा शरीर और वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता प्रयास नहीं करता तो वो अब जो निर्णय हुआ है वास्तव में मलमूत्र का भरा है वो टिकेगा ही नहीं फिर वैसा ही दिखने लगेगा ये शुद्ध है पवित्र है ऐसा दिखने लगेगा अच्छा देखो एक सुंदर बालक को ले लो छोटा सा बच्चा बड़ा अच्छा है रंग रूप से भी अच्छा है आकार प्रकार से अच्छा है देखा ना बड़ा प्रिय लगता है, है जी? उसको सब चूमना चाहते हैं लेना चाहते हैं और थोड़ी सी देर में उसको शौच लग गया टट्टी लग गई और वो लथपथ हो गया हाथ पैर दस गए और मुंह पे हाथ मारने लगे भरे हुए टट्टी के उसके अब उसके प्रति जो पहले रुचि थी आपकी वो अब ऐसे है या नहीं है आप बताओ लथपथ हो गया सोच में मुंह पर मसल लिया कुछ यहां मारा कुछ यहां मारा और आप उसके ऐसे नाक से डाके चलेंगे कभी इसको देखना नहीं पड़ जाए अब जैसे ये अब जो मलमूत्र से भरा दिख रहा वैसे पहले भी था या नहीं था है जी पहले भी तो अंदर ही भरा था मल वो उसको पहले नहीं दिखता था अब दिखने लग गया अब दूसरा भाग लो यम नियमों का पालन है धर्म आचरण अशुद्धि का भाग दूसरा धर्म आचरण यम नियमों का पालन करो आदर्श रूप में मन वचन कर्म से इनका पालन करो इसको व्यक्ति बुरा समझता है और इनके आचरण को अच्छा विपरीत आचरण को अच्छा समझता है सत्य आचरण को वो बुरा समझता है अशुद्ध समझता है और असत्य आचरण को और सत्य आचरण को वो अशुद्ध समझता है असत्य आचरण को अच्छा समझता है धर्म के क्षेत्र में जो विपरीत आचरण है अशुद्ध आचरण है यम नियमों के विरुद्ध आचरण उसको वो अच्छा समझता है शुद्ध समझता है लाभप्रद समझता उदाहरण के रूप में आजकल व्यवहार में घरों में सब लोग झूठ खूब बोलते हैं दुकानदार ये लेने देने वाले दोनों ही खूब झूठ बोलते हैं वो उसको अच्छा समझते हैं इसी प्रकार से तीसरे भाग में जो दुख है उसको व्यक्ति सुख समझता है और जो सुख है उसको दुख समझता है अब आप उदाहरण के रूप में लेंगे कि आप देखेंगे इंद्रियों के भोगों को भोगो खूब भोगो इसमें सुख है इन भोगों को छोड़ के ईश्वर में समाधि लगाना उसमें बहुत भयंकर दुख है ये अविद्या का स्वरूप है अविद्या का स्वरूप है इसको ऐसा बना देना कि ईश्वर का आनंद आनंद दिखने लगे और विषय भोगों में महा दुख दिखाई देने लगे तो समझो अविद्या का स्वरूप आ गया समझ में आए हुए स्वरूप को फिर ने इधर उधर हिलने देना जो का जो बनाया रखना सतत विवेक वैराग्य अभ्यास नहीं करेंगे तो वो हाथ से चला जाएगा आपने ये सुना है पढ़ा है विवेक ख्यातिर अभिपलवा हान उपाय क्या समझे आप विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई पर वो विपलवा बार बार डिगती रहे आती रहे डिगती रहे एक स्थिति है और वो पलव है वो डिगे नहीं हो ये मोक्ष का उपाय है अभी पलवा तो अभिपलवा रखने के लिए उसको दिन भर ऐसे अत्यंत सावधान रहना पड़ता है तो वो देखेगा कि ईश्वर के अंदर मग्न होने में आनंद है सुख है इंद्रियों के भोगों में महादुख है तो ये विद्या का स्वरूप है शरीर इंद्रिया मन नाड़िया बुद्धि ये सारा वर्ग अनात्मा प्रकृति विकृति सारा मिला के अनात्मा है इसको वह आत्मा समझता है अब आपको पता चला जो दर्शनकार कहता है न उपदेश श्रवणे अपि कृत्य कृत्यता परामर्शाधरित विरोचन वो ये बात कहना चाहता है आपको समझ में आया हुँ? हम्म? ये दर्शनकार कपिल जो योग दर्शनकार है विद्या और विद्या का चित्र खींचता है उसको ये कहना चाहता है वो केवल सुनने से केवल पढ़ने से केवल लिखने से उपदेशक बनने से वो विद्या आ गई समझ में ऐसा नहीं मानो और जब तक वो व्यवहार में नहीं आती जो कि तो तब तक ये मानना चाहिए अभी विद्या मुझे समझ में नहीं आई है और जो नहीं आई है इसको मैं प्राप्त करके छोड़ूंगा प्राप्ति करना मेरा लक्ष्य है उसको पूरा ही करना आप देखेंगे दस बरस बीस बरस हो गए एक बात पर प्रयास करता है वो सुनता है समझता है ये अशुद्धि है ये हानिकारक है अच्छा कुछ काल में उसको वो अच्छी दिखने लग जाती है वही चीज अच्छा आप ये कभी विचारते हैं इस संसार को शरीर से लेके चलो और महतत्व तक चले जाओ वहां महतत्व को लो उत्पत्ति की ओर चलो यहां तक आ जाओ और पूरे विश्व को उत्पत्ति स्थिति पर ले इसमें देखो अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण से तो कभी आप पूरे विश्व को प्रलयवत स्थिति में बना पाते हैं या नहीं अपना अपना सुनाओ हाँ जी बोलो संदीप जी आप कभी कभी होता है एकाग्र अवस्था आप बोलो नहीं, नहीं बना पाते हाँ जी कभी कभी बना पाता हूँ आप बोलो कभी कभी थोड़े से समय के लिए होता है फिर क्या होता है फिर वो चित्र उपस्थित हो जाते हैं फिर चित्र आते हैं अच्छा चित्रों को सतत विनाश करने की क्षमता नहीं है क्यों चित्रों को वाले चित्रों को सतत विनाश के रूप में मतलब उपस्थित होते रहते हैं फिर उसको दबाते रहते हैं उसको फिर विनाश की ओर भेजते रहते हैं पर वो उभरने वाले जो चित्र हैं उनको विनाश के मुंह में डालते रहना उभरते हैं मान लो पर एक बात है वहां पर हमने पहले नाशवान सिद्ध कर लिया अच्छी तरह तो बहुत सरल होता है उनको विनाश के मुंह में डाल देना यदि नहीं किया है तो वो कठिन पड़ता है उसको रोकते हैं आखड़ा होता है रोकते हैं आखड़ा आखड़ा क्या होता है हम उसको ले आते क्या समझे अपने आप नहीं अच्छा दो बातें देखेंगे आप आप उसको लाके खड़ा करते हैं ये दिमाग बनाए रखो सोए में नहीं आता ये दिमाग बना रहेगा आ जाते हैं तो आप हटा नहीं पाएंगे इसको क्या करोगे आपको ये मन बनाना पड़ेगा मैं ले आता हूं तब तो आप रोकने में सफल हो जाओगे और ये आते हैं तो आप नहीं रोक सकेंगे मैं लाता हूं इनको मिटा सकता हूं क्यों ये नाशवान है ही क्या समझा मैं लाता हूं एक और इनको मैं मिटा मिटाने मिटा सकता हूं दो कोई कल्पना नहीं है ये मिटेंगे ही आप चित्र को देखने वाले चित्र है दिखने वाला दोनों रहने वाले नहीं है क्या समझे आप बताओ रहने वाले हैं क्या न तो आप धारी देखने वाले रहेंगे चित्र को और वो चित्र भी नहीं रहेगा और आप मर जाएंगे हम मर जाएंगे तो पीछे वाली दुनिया भी नहीं रहेगी यहां से चलो कुछ समझ में आया कई बार मानते हैं कि हम तो मर जाएंगे दूसरे उत्पन्न हो जाएंगे तीसरे होते रहेंगे ऐसे ऐसे सोचता है वो कहता आगे करते चलिए इसको एक के पीछे दूसरा दूसरा आता रहेगा इसको करके चलिए आगे वो करते करते एक समय ऐसा आएगा कोई भी नहीं रहेगा वहां पहुंचता है वो अब क्या समझ में आया या नहीं होगा ऐसा जब कोई नहीं आएगा उस अवस्था को देखो कोई नहीं रहेगा उस अवस्था को खड़ी करो पीछे की ओर चलो हमारे पिता के पिता पिता के पिता एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें कोई भी नहीं था वो स्थिति आपके सामने आ जाएगी कोई भी नहीं था मैं नहीं आ सकती आ सकती, हम्म? आ सकती है कोई भी नहीं था ऐसी स्थिति आएगी और कोई भी नहीं रहेगा ये स्थिति आ गई फिर सूर्य चंद्रमा सबको समेटा हमने प्रलय जो था पहला वो उसका दिमाग बनाया हमने आने वाले प्रलय को भी बुद्धि में रखा दोनों प्रलयों को यहां वर्तमान में लाके खड़ा कर दिया तो वर्तमान जो सृष्टि है वो चकना चूर होकर प्रलय जैसी स्थिति में पहुंच गई ये प्रलयत अवस्था बनाने की पद्धति अब आपने बना डाली तो बनाने के पश्चात कोई चित्र दिखाई नहीं देगा जो कुछ सुना देखा अब बनानी आ गई यदि किसी कारण से कोई चित्र उभरता है तो तत्काल उसको मिटा देंगे आप ये भी नहीं रहेगा फिर ये भी नहीं रहेगा जैसे उठेगा उसको तत्काल कहेंगे ये नहीं रहेगा और एक देखना मैं देखने वाला भी नहीं रहूंगा दोनों को साथ समेट लेना पड़ता है मैं देखने वाला भी नहीं रहूंगा या दिखने वाला भी नहीं रहेगा ऐसा उसने देखा तो एक आकाशवत अवस्था बनेगी आकाश जैसे कुछ नहीं दिखाई देता है जैसे आकाश जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो आकाश जैसी स्थिति उत्पन्न जो होगी तो फिर कोई भी विषय जाने का इसके पास में नहीं है जब नहीं है तो वृत्तियां जितने भी प्रकार की वृत्तियां दौड़ धूप थी वह रुकी अब आप कहेंगे अब क्या करते हैं हम परिणामत अवस्था बना के खड़ी किया आपने पहले से सुना है समझा है ईश्वर सर्व व्यापक है वो चेतन है आर्य समाज के दूसरे नेम के अनुसार आपने पढ़ा है सुना है दृढ़ता है कि ईश्वर ऐसा है जीवात्मा भी चेतन है अणु है छोटा सा ये भी आपने पढ़ा है ठीक है अब वो इसको देख करके ये संसार को अच्छी तरह उसने देखा अनित्य असुचि दुखनात्म सु नित्य सुचि सुखात्म ख्याति विद्या ये उसने देखा स्थिति बनाई अब वो क्या देखता है अब संसार को तो अच्छी तरह देख लिया परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोध दुख जहां से छूओगे दुख के अतिरिक्त कोई हाथ लगने वाली चीज नहीं है ये अनित्य है नित्य इसमें लगने वाली चीज में नहीं ये अशुद्ध है सत्व रजतम मिलेंगे प्रत्येक वस्तु में तो प्रत्येक वस्तु अशुद्ध है सत्व रजतम से बनी है इस दृष्टि से सोचो फिर इसका जो सुख है जो कुछ है वो वो भी दुख मिश्रित चार प्रकार का दुख मिला हुआ तो वो इस संसार में कुछ लेने की चीज रह गई है जिसको जिसे मुझे सुख मिलेगा ऐसी चीज नहीं देख पा रहा अब वो ऐसी स्थिति में ईश्वर की खोज करता है आकाशवत अवस्था यदि उसको जबकि विधि सिखाई गई है कि ओम सच्चिदानंद है सिखाया गया उसको ऐसे पाठ करना अर्थ का विचार करना और ईश्वर समर्पित रहना वो काम करेगा वो साधक जी यहां समझ में क्या समझे ये भी सिखाया गया हो तो साथ जोड़ेंगे इस संसार का बनाने वाला ईश्वर है चलाने वाला ईश्वर है बिगाड़ने वाला ईश्वर है कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है इसका स्वामी ईश्वर है हम नहीं है ये भी आपने सीखा तो आपका स्वस्वामी संबंध भी किसी से नहीं हो पाएगा हेतु कारणों से प्रमाणों से आप किसी के मालिक हैं स्वामी हैं यह सिद्ध नहीं होगा कितना जोर लगाइए आप या नहीं आया समझ में बोलिए ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं किसी को कहूं ये मेरी चीज है मैं इसका स्वामी हूं ये सिद्ध हो ही नहीं सकता उस और उसने ईश्वर को स्वामी माना सब कुछ कहा अपना स्वामित्व वहां समाप्त हो गया अब वो जीवात्मा अब वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसा उसने सुना पढ़ा अब उसकी खोज करता है तद जपस तदर्थ भावना ये स्थिति अब क्या होता है इसने स्वस्वामी संबंध छोड़ दिया तीनों यशना समाप्त हो गई है ये कोई संसार की चीज को भोगना नहीं चाहता इसके लिए कुछ भी नहीं रहा भोगने जैसी चीज अब ये जो ऐसे अपने आप को स्वयं को सब कुछ का स्वामी ईश्वर को मानता है और ये ईश्वर के पूरा समर्पित होता है ईश्वर चाहिए उसको और कुछ नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में ईश्वर जीवात्मा को अपनी ओर से विद्या देकर के समाधि लगवाता है अपने स्वरूप को दिखा देता है उपनिषद में पढ़ा होगा दोहरा लो कहा पढ़ा दोहराओ क्या है न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न इसमें भी ये तीन बातें होनी चाहिए वो कहने के इन अकेलियों से नहीं मिलेगा ये तीन बातें आवश्यक है बहुत सुनना चाहिए वो कहते केवल सुनने से नहीं काम चलेगा मेधा बुद्धि होनी चाहिए पर मेधा बुद्धि से काम नहीं चलेगा प्रवचन पढ़ते पढ़ाते रहो लंबे काल तक इसे भी काम नहीं चलेगा ये इनका निषेध नहीं है ये हो और फिर ये स्थिति आनी चाहिए जो ये कहना चाहता है न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मे दया न बहुना श्रुते न ये मेव ऐसा वृणुते जिसको ये पात्र समझ के निर्वाचित कर लेता है कि ये योग्य हो गया है उस उस आत्मा को ये जीवात्मा वो विद्या देता है जिससे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए विवृते स्वाम तनु क्या कहा अपने स्वरूप को उद्घाटित कर देता है अपने स्वरूप को ईश्वर दिखा देता है ये है इस विद्या को पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने लिखने लिखाने का प्रयोजन बस अब जब इस इस स्थिति में नहीं जाते तो समझना चाहिए ये विद्या हमको जितनी आई उतनी तो ठीक है आंशिक रूप में तो आती होगी कुछ अंशों में आपको आती होगी नहीं कि अभाव है पर विशुद्ध रूप जो आना चाहिए वो ये है अब ध्यान देंगे आप इतना पढ़ने पर भी सुनने पर भी और पढ़ाने पर भी फिर भी आप इसको प्राप्त नहीं कर पा रहे सबसे बहुत बड़ा बाधक कारण बाधक रोड़ा स्वयं आप है फिर इस आ गया इतना पढ़ा इतना पढ़ा देते हो लिखने में समर्थ है पढ़ाने में उपदेश देने में समर्थ है और अब भी ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति नहीं आ रही बाधक अनेक उनमें से एक बहुत बड़ा बाधक आप स्वयं है इतना पढ़ने पर भी ईश्वर साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पा रहे उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा आप बाधक समझ में आ गया हाँ जी साधक जी आप स्वयं को जीवित रह करके जीवित रख करके ईश्वर साक्षात्कार करना चाहते हो एक भूल भयंकर ये है अब क्या समझ में आया हाँ जी उदय जी क्या कहा अपने आप को जीवित रख करके ईश्वर करना चाहते ये एक भूल है उनमें से क्यों जी क्या समझ में आया सुषमा माता जी मर गई अब जीवित नहीं है तब तो ईश्वर की ओर बढ़ेगी वो और सुषमा माता जी जीवित हैं सुरक्षित हैं ये बैठी हैं जब तक ये अपने आप को जीवित रखेंगी तब तक ये रोड़ा इनका ईश्वर को नहीं देखने देगा अब क्या समझ में आया पूछो या नहीं आया अपने को जीवित मानना एक फिर मान करके वो किन्नी वस्तुओं का स्वामी बनता है दो फिर वो अभिमानी होता है मैं इनका मालिक हूं ये तीन और फिर वस्तुओं में भोगों के लिए आशक्त होता है चार इत्यादि तो ये स्वयं रोड़ा बना हुआ है अच्छा आप ये बताओ ये इतनी विद्या सुनाई जा रही सिखाई जा रही इसको पढ़ के जान के आप उस तक पहुंच जाएंगे ईश्वर साक्षात्कार तक कैसा जसता है आपको हाँ जी बोलिए तो पहुंच जाएंगे हाँ जी आप बोलो आप बोलो पहुंच जाओगे हाँ जी अच्छा जो आप व्यवहार में खाते पीते चलते फिरते लेन देन भाषा बोलते हो ये आपको नहीं पहुंचने देगी <laughs> क्या समझ में ये व्यवहार आपका नहीं पहुंचने देगा इसको बहुत परिवर्तनशील बनाना पड़ेगा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा इस तक पहुंचने वाले की भाषा बोलचाल खाना पीना चलना फिरना संयम यम नियम का पालन वो दुनिया के लोगों की स्थिति में नहीं रह करके बिल्कुल भिन्न स्थिति में रहता हाँ जी माता जी कुछ और पूछना है ये इसमें भर लेती हो क्या है खोज की बताइए परमात्मा के स्वरूप का चिंतन जो तो कर रहे हैं हम्म। तो खोज का, खोज का कैसे होता तो अपन ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का ही वही खोज है खोज कैसा शब्द है खोज कहो गवेषणा को ढूंढना कहो कोई चीज हमको मिल नहीं रही और हमें पता है हमारे पास है कमरे में तो बत्ती जलाएंगे बिजली जलाएंगे वो है खोज अब ज्ञान विज्ञान से परमात्मा की खोज और उसकी उसका जो पद्धति बताई ओ सर्वरक्षक है ओ सर्वरक्षक है ये खोज है उसकी हाँ वो इतना लालायित हो जाता है जीवात्मा ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता विधि पूर्वक विधि पूर्वक वो ईश्वर के लिए ही सब कुछ झोंक देता है पर चिंतन के समय ओम का उच्चारण कर तो, तो सर्वरक्षक हो आता है हो आता है तो वो कौन चिंतन किया हाँ उच्चारण करके मानसिक रूप में आप सर्वरक्षक हो हाँ एक बात हो हो हाँ हो कहो है कहो अथवा आप ये करो एक छोटी वाक्यावली है ओम सर्वरक्षक है छोटा है ये पक्का हो गया आपका तो आप आगे बढ़िए थोड़ा सा ओम सच्चिदानंद है इसमें क्या आया हे ईश्वर आप सर्वरक्षक सत्य जत आनंद स्वरूप है इसको जोड़िए विविध गुणों को सामने लाइए आप सत्य है सदा रहते हैं कभी नाश नहीं होता चेतन है सबको जानते आनंद स्वरूप है ओम निराकार है हे ईश्वर आप में रूप नहीं है ओम सर्वशक्तिमान हे ईश्वर आप सर्वशक्तिमान है पूरे आर्य समाज के नियम को अंत तक सृष्टिकर्ता तक ले जाइए ये पूरा ईश्वर का स्वरूप गुण ग्रंथ स्वभाव आ गया ऐसे ईश्वर को ढूंढते हैं आप हाँ। ढूंढ रहे हैं हाँ हाँ उसको ढूंढ रहे अब ढूंढते हुए जब हम ईश्वर की दृष्टि में पात्र बन जाएंगे पात्र जो फिर ईश्वर हमको ज्ञान देकर अपना स्वरूप दिखाएगा ईश्वर है ज्ञान देगा स्वरूप दिखाएगा वो उसका स्वरूप तो आनंद ही है वो सारे आएंगे ये सारी चीजें आएंगी उसमें सर्वशक्तिमान और दयालु और न्यायकारी सत्यचेत ये जितने ईश्वर में गुण है कहते ही सारे का ग्रहण हो जाएगा सबका ही ज्ञान हो जाएगा हाँ, वो सारा ही तो ईश्वर है आप कहती हैं हलवा हलवा अब खा करके मिठास आया अलवे में बल भी है सुगंध भी है स्पर्श भी है रूप भी है अलवा कहते ही सारे अलवे का ग्रहण हो गया नहीं हो गया <laughs> क्या ठीक है आनंद में ही सब कुछ आ जाएगा नहीं आनंद तो एक गुण है आनंद के साथ ज्ञान भी आएगा आनंद के साथ बल भी आएगा ईश्वर को पकड़ेंगे तो सारे गुण आएंगे ठीक है आया कुछ समझ में अब मिला